से तो महाराज यही कहे सबसे बड़ा कर्म यह है कि मृत्यु का जो मृत्यु को संवार लेता है वो मृत्यु का स्वागत करता है और जो मृत्यु को बिगाड़ देता है मृत्यु से डरता है मृत्यु समझती है नाम नाम जब कहें एक मृत्यु को है इस पावन भूमि में आए होंगे तो किसी बात मत करना नाम जपना जितना भी शरीर तो नाम जपना जो मृत्यु को संवारता है नामातरिक जितने प्रपंच की बातें हैं मृत्यु को बिगाड़ती जो मृत्यु को बिगाड़ता है वो मृत्यु से डरता है जो मृत्यु को संवारता है तो मृत्यु का आदर करने के लिए हमेशा तैयार है आ जाओ आ जाओ

महाराज परीक्षित के साथ विवाह पता नहीं क्यों कारो कारो सब जगह फैल गए और तुम लोगों ने सुना ऐसा है महाराज परीक्षित गंगा किनारे पहुंच गए चारों तरफ से महाराज ठहरने क्षत्रिय भी नहीं रह गए स्वामी हम तो क्षत्र बंधु हो गए जो ब्राह्मण निकृष्ट कर ले जो ब्राह्मण निकृष्ट कर्म कर ले तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता ब्राह्मण बंधु हो जाता है ब्रह्म बंधु हो जाता है अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु हो गया ब्रह्म बंधुर्न आत्मव्या

putaria. कुछ की स्थिति उत्पन्न हो रही है लेकिन ठीक उसी समय जिस समय मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने जा रही थी कोई कुछ कहने जा रहा था कोई कुछ कहने जा रहा था करते हुए आ गए परीक्षित बहुत बड़े राजा है राजा राजा को ख्याल सब कोई करता है इसलिए आगे खाना को उनको किसी से अपेक्षा नहीं है करने के लिए भगवान आ गए परीक्षित मैंने तेरा मैंने तेरा जन्म भी संवारा है मैं तेरा मरण भी जब तेरे जन्म के समय में था तो तेरी मृत्यु के समय भी मैं तेरे आंखों सामने भगवान व्यास रूपेण साक्षात भगवान आ गया ठाकुर को किसी ने पहचाना नहीं बल्कि किसी ने देखा नहीं मयूर पीछे किसी ने देखा नहीं कि अलक्ष्य लिंगा अलक्ष्य सुखदेव जी महाराज कैसे आ गए महाराज करिए दीक्षाया दीक्षा मैंने अपने मन से दीक्षा में दोनों मतलब होता है यदि छया Isaiah वही कथा कथा है और देववाणी को छोड़ करके जो कथा कही जाती है वो कथा कथा नहीं है था जीवन की साधना अर्पित कर दे एक एक श्लोक के सौ सौ वर्ष कर दे लेकिन हमारे अर्थ में स्वार्थ नहीं आ सकता जो ज्ञान की वाणी है भगवान व्यासपुत्र जदुच्छया ग्राम अटमान फलवेक्ष फलक्षलिंग बालैः बालैः बालों से है बालों ने उनका वर्णन किया है समझो लेकिन वृद्ध तो तभी हो

साधन यही रहे लेकिन ठाकुर के चरणों में समर्पित है उनको जो अपने आप को दे देता है उसका नाम है बालक बालई मृदा बालक जरूरत सुपक्ष में बालई आप सोलह है हमेशा किशोरावस्था रखी है सुकुमार पाद करुण बाहुन तकबूर उदातम सुंदर है ये सुखदेव का सुखदेव जी महाराज का सुंदर दो चार घंटे दो चार मिनट लगती नहीं ऐसा बिल्कुल पढ़ाया हो दो चार घंटे पढ़ाया हो दो चार घंटे भी सुनने काबिल है श्री सुखदेव का शब्द और कम है दो चार घंटे कम ये सुखदेव का सौंदर्य ठाकुर के सौंदर्य से किसी भी हर तरह से अपने ऊपर काम लेते हैं और हमसे अगर पूछोगे तो मैं आपसे चिल्ला के कहूंगा घोषणा पूर्वक कहूंगा बल पूर्वक कहूंगा बुद्धि को दुरुस्त करके कहूंगा कि ठाकुर से बढ़ गए विद्यमान है और जो विशेष है वो कुछ विशेष भी है ठाकुर के सारे सौंदर्य एक मर्द तो आसन पर विराजमान हो गए राजा ने उनका पूजन किया है षोडशोपचार पूजन किया है विविधोपचार से पूजन किया है राजोपचार से पूजन किया है परीक्षित जी महाराज ने उनकी बड़ी प्रार्थना की महाराज और वयम ब्रह्मन सत्यक्षत्रबंधव कृपया किसी रूपेण भगवत विस्तृता हाथ में हार दिया महाराज पर कुछ बचा नहीं हमने जो कुछ जो कुछ मेरे अंदर कलमस था सब का सब भूल गया हम शुद्ध परिशुद्ध है हम जानते हैं आप क्यों आए ध्यान दीजिए दीजिएगा हमने जो काम सुने आप व्यास जी के बाद में ध्यान दीजिए मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों आए आपकी मेरी भगवान प्रीता प्रिय पैतस्पैतृस्वसेयर्थम तद्गोत्रस्यात्मभार्गवः इसलिए तुम आए हो इसलिए तुम आए हो हमें मालूम है अन्यथा अव्यक्त गतिर न कथम दृढ़ का भाग जाता है हम उस अर्जुन के पौत्र हैं जो कृष्ण का सखा है यदि तुम्हारे पास कोई संबल नहीं है कोई संबल नहीं धन्य है अर्जुन तुझे भी कहते हैं हमारे पास अर्जुन का संबल है और नीचे वाले भी कहते हैं हमारे पास अर्जुन का संबल आदि स्वामी पितामा भी कहते हैं हमारे पास अर्जुन का संबल है परिषद परीक्षित भी कहते हैं हमारे पास अर्जुन का कमल हम व्यर्थना कीजिए महाराज हम मरने के लिए तैयार हैं हमारा स्मरण करने योग्य क्या है हमारा भजनीय कौन है आप मुझे बताएं हमें जानना चाहिए परीक्षित इस प्रश्न के साथ ही तथा निकल करके द्वितीय स्कंद में पृष्ठ हो रही है

वरीयाले सते प्रश्न और इस प्रश्न से बढ़िया और कोई प्रश्न हो ही नहीं इससे कोई नहीं हाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उत्तर मैं अभी दे दू बाद में उसकी व्याख्या ध्यान दीजिएगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक शब्दों में अपनी उसकी व्याख्या में आगे सारी बाबू ध्याय जन्मनाम परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही भगवान की स्मृति

कोई भी चीज हो सकता है लेकिन आप ऐसा मत करिए आप तो कह दो द्वा बरा द्वापर आदि में है जिसके ऐसे कलयुग पे मैंने पढ़ा है द्वापरा दू मन कलयुगी द्वापर जिसके आदि में है ऐसे कलयुग पे मैंने इसको पढ़ा है हाँ। सवाल है तुम्हारे बहुत तुम्हारे कंजू करने तो मजाक एक किरकिरा हो गया और कह रहे हैं कंजू ईमानी का सवाल है मैंने कहा नहीं अगर बिल्कुल कह देते कुत्ता स्वान कह देते आनंद नष्ट हो जाता मर्यादा नष्ट हो जाता ये बात कह दिया कुत्ता कह भी दिया मर्यादा नष्ट ये शब्दों का ये शब्द है ना ये शब्दों का अधिक है मैंने पढ़ा की इनासी आमी मैं तुमको विष्णु जो सुनाओ तुमने जो पिता है क्या जो पिता है महापौरुषिक भगवान आप महापौरुषिक है अर्थात महापुरुष के उपासक है महापौरुषिका माने महापुरुष के संबंधी महापुरुष के संबंधी है और महापुरुष के उपासक दोनों मिले महापुरुष के संबंधी है अर्थात भगवान कृष्ण के भांजे के पुत्र है महापौरुषिका बने महाभागवत और दोनों तरह से सुनाना बन जाता है इसलिए हम तुमको सुनावेंगे निश्चित सुनावेंगे हम उससे सुनने का प्रयास हम भगवान के सूक्ष्म रूप स्थूल रूप का वर्णन करेंगे भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया है श्री सुखदेव महाराज ने भगवान का विराट स्वरूप है भगवान के चरणों का जो तलवार है वही पाताल है पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन कृपाष्टिक कर्मधेय और भगवान की चरण का जो पिछला हिस्सा है प्रपद में जो पंजा ये दोनों के साथ है महातलम विश्व से जो हो तलातलम वही पुरुष सत्य जमीन इस प्रकार से भगवान की विराट स्वरूप का भगवान की स्थूल स्वरूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं भगवान में और फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का भी वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूपों में अपना मन लगाना चाहिए भगवान के स्वरूपों में जो अपना मन नहीं लगाता वो वास्तव में मन लगाते हैं तो देखो ब्रह्मा जी महाराज ने तीन बार वेद का अध्ययन किया और तीन बार वेद का अध्ययन करके एक बात निश्चित करी करोगे बार बार बात अब क्या करोगे पढ़ करके यही बात सुनो भगवान ब्रह्मा ने तीन बार भूमिका भूमिका किया सांगो पांग और देर करके एक बार प्रसिद्ध किया है भगवान ब्रह्म का स्नेह त्रि अन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रति आत्मनियतो यतो भवे सबसे बड़ी सफलता चली है बुद्धि की जो बुद्धि ठाकुर के चरणों में है भगवान की चरणों का प्रेम प्राप्त हो ये सारे अध्ययनों का फल है सर्वदा श्रोतव्य स्मर्तव्यो भगवान इसलिए सर्वात्मना भगवान का स्मरण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए और भगवान का ही क्या होगा कि विषय के द्वारा जो अशुद्ध आपका अंतकरण है वो पवित्र हो जाए हाँ। श्री सुंदर जी महाराज कहते सुनो किसी भी भाव से भजना हो तो ठाकुर को भी ऐसे तो और लोग भी कामना देते कामना देने वालों का वर्णन किया हाँ, कि इस कामना से इनका भजन करो इस कामना से इनका भजन करो कामना हो तो ठाकुर भगाम सर्व कामुआ मोक्ष काम उदार भी भक्ति योगेन यदि पुरुषम परम परमात्मा का भेद परमात्मा के भेद गदा गदा अब यह गदा के नाम प्राप्त हो और कुत्ता से गया क्यों गधे से गया क्यों बारा से गया क्यों ऊट से गया क्यों ये बड़ा आपूर है ये नहीं कि बन गया है जैसे निकले दिया हो ठाकुर के चरित्र को सुनकर के जिसकी आंखों से आंसू समुचरित होंगे पैदल सुन कार्यक्रम की या सूची या स्मरण में कहना है स्मरण ठाकुर का चरित्र कह करके ठाकुर का चरित्र सवर करके या ठाकुर के चरित्र का स्मरण करके भी जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए जिसका हृदय पिघल नहीं गया पत्थर है पत्थर सरस बसारम हृदय पतीरम यद्रियमाणैर्हरि आठ गजराधिकारो श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी महाराज ने सुना परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज अब मेरी बुद्धि जो तो है सती हो गई मेरी बुद्धि सती हो गई अब तक तो शायद विचार नहीं रही हो कभी पुत्र में चली जाती हो कभी पत्नी में चली जाती हो कभी यज्ञ में जाती हो कभी जाग में जाती हो कभी गर्भ में जाती हो कभी गर्भ में जाती हो लेकिन स्वामी अब मेरी बुद्धि सदी हो गई सिवा भगवत पाधार के पीछे मेरी बुद्धि कहीं नहीं मेरी बुद्धि सती हो गई उपधार्य मति कृष्णे औत्तरेय सती व्यधात और सती का लक्षण बता रहे आगे जो मैंने आपसे बताया आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्ये चामिकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहाउ व्याख्या हुई तो व्याख्या अब हुई तब तक असती तो थी कि इसे आप प्रजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु होगी ना चाहिए और अब केवल कृष्ण के मंगल में पादार में है इसलिए मेरी बुद्धि अब सती होगी एक नहीं दो नहीं धुएं से अनंत नमस्कार है या जो बहुत महान है उसके चरणों में हमारा नमस्कार है जिसने सृष्टि का प्राकृत पालन संहार करने के लिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं उनके लिए हमारा नमस्कार गृहित शक्ति कृतलाल कथम सदुद्भव स्थान निरोध लक्ष्य बने जिनका रास्ता समझा नहीं जा सकता उनको नमस्कार अनुपलक्ष्य बने अनुपलक्ष्य बने योगी भी अभिवृद्धि अनुपलक्ष्य ちいい अवतारों का भी वर्णन करते हुए